No los recapitalizamos. no que antes आभास है वो सब क्या है वो नाम रूपात्मक जगत का एक अंग है और उपेक्षणीय क्षमा लेकिन क्षमा करने के लिए व्यक्ति में सत्य चाहिए और सत्य के लिए चाहिए व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के समस्त व्यक्ति की शक्ति तत्व ज्ञान आपकी ज्ञान का जब बढ़ हो तब क्षमा लगता को को क्षमा करता है तो क्षमा नहीं करता है अपनी कारता ही व्यक्त करता है दुर्बल व्यक्ति क्षमा करते हैं तो अपनी कारता सूचित करते हैं शक्तिशाली व्यक्ति क्षमा करता है तब उसकी क्षमा क्षमा जिनका ये पंक्ति बारह ज्यादा क्षमा को बेटी इस भजन को इसके दंत कर और सांस के ऊपर पैर रख दो सांस काटे तो कहते सांप में क्षमा और अगर तुम्हें वही ऐसे कोई सांप और हो जिसके किताब की सोते लगे जिसके ऊपर पैर रख दो और वो न काटे तो बदले का क्षमा कर दो कहीं क्या कर सकते इसलिए क्षमा जैसे आनंद को लाने से पहले दर्शन सख्त होनी चाहिए और यहाँ जो विकास का भाग है आध्यात्मिक शक्ति का है तो शक्ति का मैंने मतलब शारीरिक शक्ति नहीं है शक्ति का पर यहाँ क्षमता उसकी बंद है जब व्यक्ति इस प्रकार से आ गए <clears throat> तो वो अपने अपनी महानता में अपनी श्रेष्ठता में स्थित होकर के देते जो भी इस प्रकार के अपराध करने वाले वो बच्चे दिखाई देते ना समझ बच्चे क्या करो कह दिया मानो तो मानो न मानो तो क्या बच्चे है है क्षमा जब किसी दूसरे व्यक्ति को आप देखो में है तब उसकी आप सहायता है जब कृपा भाव व्यक्ति मन में आता है तब व्यक्ति दूसरे की सहायता वृत्ति से न हो इससे हमें कुछ प्राप्त होना है किसी के शक्ति को देख करके मन में व्यक्ति को उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो उसके दुख को देख करके सुख लगे करना जागृत हो और फिर करके अपने स्वास्थ्य की इच्छा रख करके कुछ भी सहायता करे तत्व सकता है दया में तो मानो इतना भी कह दिया करे बेचारे को देख करके दया तो देख करके गया तो देख करके चल दिए हो गई गया लेकिन कृपा तब तक नहीं होगी जब तक तो उसके लिए तो करो नहीं कुछ उसके लिए त्याग न करो कुछ उसका सेवा न करो सहायता न करो तब तक कृपा वो है आजकल के जमाने में सबको मूर्खता समझा जाता है किसी पर दया करना कृपा करना मूर्खों का काम अपना स्वास्थ्य सिद्ध करो वही सबसे ज्यादा चतुर है उनका पाप से कितने लौटने बस उतने चार्ज ज्यादा होगा थोड़ी देर के बाद तक ओवर चार्ज की वजह से होगा अंदाजियन काम न हो Thank चार चार घोड़े हैं रस्सी पी नहीं देखो तुलसीदास जी भूल गए मैंने अरे चार घोड़े में तो छह रस्सी चाहिए पांच रस्सी चाहिए दो दो के सबके लगती है एक लगाओ घूमे एक गन लगाओ उसमें जब रस में घोड़े जुटे होते हैं तो दो प्रकार की रस्सियाँ जरूरत पड़ती है एक तो रस्सी रथ के साथ घोड़े को बांधने के लिए रस्सी जरूरत पड़ती है घोड़ा जब चले तो बस उसके सामने कितना चला हो उसके लिए भी रस्सी जरूरत होती और घोड़ों को सीधे आगे करने के लिए भी रस्सी की जरूरत पड़ती है घोड़े नियंत्रण में रहें इधर उधर में जाए वो भी रस्सी जाए और तुलसी रात ने सोचा कहाँ तक रस्सियों का वर्णन करेंगे तमाम तमाम का तो हर रस्सी में तीन जगह होते तो उन्होंने कहा एक रस्सी बनाओ उसी में सबको बांधो के वो हो क्षमा कृपा और समता श्रीनर जैसे अगर तीन दलों के अर्थ में इसको तीनों को तो ऐसा लगता है कि तीनों एक दूसरे को मजबूत करने वाले ये क्षमा से कृपा कृपा से क्षमा क्षमता से क्षमा और कृपा दोनों और क्षमा और कृपा से ही क्षमता आती है ऐसा विचार करना चाहिए अगर व्यक्ति क्षमा उसका नहीं कर सकता तो क्षमता का भाव प्रकट नहीं होगा क्षमता का भाव भी नहीं हुआ तो क्या कृपा करेगा क्या क्षमा करेगा अब ये जो तो ऐसे भाव है जो स्वयं अपने अंदर विचार करो देखे कल्पना करो तो मान लो कि क्षमता की वृद्धि आ गई तो फिर सबके ऊपर कथा भाव रहेगा कि नहीं रहेगा क्षमा भाव रहेगा कि नहीं रहेगा या फिर ऐसा कुछ है क्षमा करेंगे तो क्षमता का भाव आएगा तो नहीं आएगा कृपा करेंगे तो क्षमता का भाव होगा तो नहीं होगा क्षमता में अपने और पढ़ाई का जो भेद है उसमें भी क्षमता क्षमता का मान है कि हम तो अलग पापी पसंद हम्म? हम सबको एक जैसे से देखते हैं लेकिन अपने को सबसे अलग रखते हैं कि कौन सी क्षमता होगी हम तो बिल्कुल विचित्र है अलग बात बताओ हमारी दूसरे से क्या तुलना होगा हमारी दूसरे से क्या बराबर एक पैसा एक्स्ट्रा बिल्कुल दो बात करता ऐसा नहीं ये अंदाज करके कोई व्यक्ति क्षमता लाभ क्षमता नहीं इसलिए आत्मज्ञान में मैं और पर नहीं अहंकार में मैं पर है मन बुद्धि के स्तर के ऊपर मैं और पर है लेकिन आत्मज्ञान में मैं पर जब समाप्त हो गए मिट गए तब आत्मज्ञान है और तब चलता है ये तो ऐसी चीजें हैं लेकिन जितना विचार करो उतनी ही बातें उसमें से निकलती आती उतने ही ज्ञान के सूत्र आपको मिलते जाएंगे रात में ही बातें अपने भीतर मिलती जाएंगे जैसे शास्त्रों में लिखा होता है थोड़ा मनन करने के लिए ज्यादा कहा गया जो बात थोड़ी सी कह दी गई आप उसको मनन करो मनन करते करते करते करते बहुत बातें आपको आगे कहते हैं कि देखो एक सारथी जब रस है तो उसमें सारथी दिखता है पूरा रथ का संयोग सब बने जो सारथी करे सारथी क्या है रथ का आंकड़े वाला कौन है तो कहते हैं भजन हम सोचते समझदार क्या समझदार कि साधु के मालूम हो युद्ध क्षेत्र में सब कहाँ थोड़े किए जाने हैं कहाँ की तरफ घुमाना है कहाँ रथ को पीछे करना है कहाँ रथ को आगे करना है ये सब कहाँ तेज दौड़ाना है कहाँ खड़ा रखना है ये सब बातें जब उसको मालूम हो तो उसको वो सुजान ऐसे थोड़ी युद्ध के मैदान में रथ सरासर सरासर ऐसे भड़क रहा जा रहा है जैसे की हमारे बाहर से कन्याकुमारी तक जा रहा है वो तो रुकेगा भी मुड़ेगा भी पीछे भी लटेगा आगे भी बढ़ेगा ये सब उसमें करेगा इसलिए उसको समझदार होना चाहिए तब कितनी रफ्तार से किधर ले जाना है तो ऐसा जो ये है सारथी ऐसा हो सुजान सारथी लेकिन ये सारथी है क्या सारथी तो रस्ते लकड़ी के रस्ते बैठा सारथी कहलाता है लेकिन यहाँ अपने भीतर जो धर्म में रखो इसका साथ है गीत भजन गीत के माने है शंकर शंकर जी का शब्द का प्रयोग शंकर जी को ईश बोलते हैं नमामि समीशान निर्वाण रूपम क्या हुआ ईश के माने ईश्वर अर्थ लेकर लगाते हैं लेकिन तुलसीदास जी की भी तो भाषा देखो वो क्या समझते हैं इसके माने इसके माने शंकर इस भगवान माना शंकर जी का वचन देखेंगे पत्रिका देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शंकर जी की कृपा से भावचंद्र सुखान भगवान राम की कृपा से भी है लेकिन शंकर जी की कृपा से ये संसार का कुछ छूट जाता नष्ट हो जाता और वैसे मालूम है शंकर जी के मालूम क्या है परमात्मा का विश्वास परमात्मा का विश्वास रख करके धर्म के संग्राम में आगे बढ़ो परमात्मा का विश्वास कौन है वही वही शंकर जी परमात्मा को भूल करके कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलना चाहे लौटा जाए के मार्ग में टिक नहीं सके अगर के गड्ढे में जाके और बाद में हमारी यही दुहाई हुई आज के जमाने में ऐसा है बिना के रास्ता पकड़े अपना कल्याण में बात क्या थी कि उनका रथ का जो सारथी था वो चीज भोजन उसी ही नहीं परमात्मा का विश्वास था ही नहीं परमात्मा के प्रति समर्पण था ही नहीं हाँ? बोल गए परमात्मा को छोड़ करके अपने देहाभिमान ले करके जीवाभिमान ले करके यदि कोई इसमें धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो पराजय सब भेद को सबको नहीं समझेंगे ध्यान नहीं देंगे चाहते हैं दुनिया में सबको वैसे कहते हैं समाज में तो सब लोग ऐसे कहते हैं तो उन लोगों की आप परीक्षा करके भी देखो उन्हें परमात्मा का कितना ज्ञान और कितना विश्वास है कुछ आपको तो देखेंगे मिला जो वासी ने कहा सारा विश्वास किसके ऊपर है धन के ऊपर परिवार लगता है कि धन ही रक्षा कर रहा है परिवार ही रक्षा कर रहा है बस उन्हीं की रक्षा से हमारी रक्षा है उसके नहीं कुछ कहते हैं गीत भजन सारथी को जाना बस यहाँ तक आकर के जो धर्म रथ वो रथ पूरा हो गया लेकिन रथ पूरा करने के लिए भगवान कहते हैं उसके ऊपर बैठा जो रथी है वो रथी ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होना चाहिए रक्त के अंदर तक मालूम ये भी ऐसे आते हैं ऐसा लगता है ये भी सब होने चाहिए जो रक्त प्राचीन काल में होते थे वो कई प्रकार के रक्त होते साधारण नागरिकों के रक्त है राजाओं के रक्त है सेनापतियों के योद्धाओं के रक्त है हम्म, विभिन्न प्रकार के रक्त के स्थान मान लो आजकल कार समझ लो हम्म, तो कारा में प्रकार के चल जाते हैं वो उसी का एक प्रकार तारों का एक प्रकार खंड है जिसमें जो सामान खोया जाता है प्राचीन काल में इस प्रकार सामान खोने वाले रथ मैंने काल में जगह रथ का नाम दिया गया है और वहाँ जब घोड़ों के स्थान पर बैलों का नाम दिया गया है जैसे मानव पड़ता है किसी समय में गाड़ियों को व्यर्थ कहा जाता था जिसमें बैल लगते थे तो सामान धोने के काम आते आते तो ही यात्रा करने के लिए जरा उसको एक रास्ता वाली गाड़ी चाहिए प्रभु के ऊपर लिखा रहेगा ज्यादा से ज्यादा स्पीड कितनी चालीस और कार अस्सी किलोमीटर क्या तो सवारी वाली है वो धीरे चले तो माल होने वाली धीरे चले सवारी वाली जल्दी चलनी चाहिए ऐसे प्राचीन काल में जब बैरोज करने वाले तुरंत थे वो तो मन ढोने के लिए और जो सवारी के लिए जिनको यात्रा करके पूरी करनी है उनमें घोड़े लगाए गए छोटे घोड़े बड़े घोड़े हाँ, जिस प्रकार जिस प्रकार साधन और फिर योद्धाओं के जो रथ हुआ करते थे उस रथ में शिक्षक तमाम यहाँ पर एक थाला है जिस जगह पर फसा हुआ है धनुष यहाँ सजा हुआ है तलवार यहाँ पर लटकी हुई है एक नहीं नहीं दो दो चार का धान इधर करी हुई है इधर की तरफ जाइए सबका करा हुआ है बाड़ों का सबका सबका खेल यहाँ पर लगा हुआ है बात हो रहा जैसे कोई आत्मा का काम देखो किसी मिल निर्भरी वो कैसे होगी बर्फ में अब ऐसे कारण कर रहे होगी जैसे यदि यदि आप लड़के तो ऐसे काम करो वो अस्पताल में जहाँ होंगे तो उनमें सब जैसे युद्ध से करने जितने से लड़ने की जो सामग्री बंदूक है और तोप है और जो कुछ होंगे वो सब उसमें लगी होगी और वो बनाई ऐसे नहीं होगी कि जिसमें जो फिक्स आ जाए जब वो चले तो वो ऐसा नहीं हो कि वो सब खबराए और लग पड़ जाए सब न हो तो आप जैसे इस प्रकार के लोहे के अंदर इस प्रकार के बनने लगे और पेट्रोल वगैरह चलने लगे उस समय मान लो घोड़े ही चलते वाले रखते लेकिन अस्त्र शस्त्र तो उसमें भी असली में लगते थे और योद्धा उसके ऊपर बैठता था तब जहाँ जिस अस्त्र की आवश्यकता होती थी वो समय निकाला उपयोग किया पास आ गया अरे बंधन तुम्हारा तलवार तुम्हारा दूर से किसी को मार करके वही घर उठा लिया भाग कर दिए उसके ऊपर तब जहाँ जिस प्रकार के अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता हुई तब तक सावरत के साथ में इन अस्त्र शस्त्रों का भी वर्णन करता और उनमें आपको सत्रह सबसे पहला जो है वो ग्रस्त कर्म संतोष क्रमा कर्म के माने धान कर्म के माने खाद और कर्मा माने करवा खाल करवा सबसे पहला आपको सब खाल करवा माया हाथ में ढाल माने हाथ में तलवा ये तो होने चाहिए अगर ये नहीं हुई तो फिर और बाकी तो बेकार है सबसे सबों का सबसे ढाल करवा विवेक चला गया थोड़ा बच गया तो अब विवेक से आ रहा आनंद उसके स्थान पर तलवार बनी संतोष इसके माने विवेक के साथ ये वैराग्य के साथ में है वैराग्य विवेक और वैराग्य ज्ञान विराग या विवेक वैराग्य और विवेक वैराग्य रहेंगे या ज्ञान वैराग्य जो हो हृदय के नेत्र अनेत्र कहेगा जहाँ भक्ति आवे भक्ति की मन सूखे दिखाई दे तो भक्ति भी मन तो उसे दिखाई देगा जिससे ज्ञान और वैराग्य होगा हृदय के नेत्र तो खुलेंगे हृदय के नेत्र तो उनको माना गया वहाँ पर लेकिन यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में ये वैराग्य आज्ञा घाट बन गया उत्तरकांड में भी प्रश्न जी गरुड़ को जब समझाने लगे भक्ति क्या है तो वहाँ पर भी यही नाम देते हैं वहाँ ये वहाँ ज्ञान और वैराग्य नाम देते हैं कहते हैं वैराग्य जो है वो विरक्त कर्म ज्ञान मद लोभ मोहरि कुमार जय पाई कोई हरि भगत देख विहंग विचार तो इसमें लगता है कि विरति कर्म मेरा दिल कर्म अशु ज्ञान और जो ज्ञान है ये विवेक है वो तलवार और लोभ मोहरी कुमार मद है लोभ है मोह है ये सब क्या है संसार शत्रु है वहां तो संसार अकेला कह दिया सबके संसार में जो जो योद्धा है उनके नाम बना दिए तो इन सबसे युद्ध इनसे करना और जय पाइए इनसे विजय प्राप्त कर लो कोई हर भगत जो इनके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया इनसे जीत लिया तो तो भगवान का भक्त वैसे चाहे जितना वो हल्ला मचा वो चाहे जितना भजन कीर्तन करे चाहे जितना कुछ करे लेकिन क्या है काम क्रोध तो, तो बनेंगे झगड़ा खदान तो बनेगा हाँ। जो कल्याण जो है सेनाएं तो बन गए और भक्त हो गए तुलसीदास तो कहते ये भक्ति अच्छी क्या ये तो भक्ति कहने मात्र की इसलिए यहाँ पर देखो जल शिक्षा में बैराग जो वो हो घात लेकिन यहाँ बैराग का घात का उसका सहयोगी किया संतोष संतोष और वैराग्य ये दोनों एक दूसरे के पूरक या सहयोगी लेकिन तो वैराग्य जो है वो अपने ढंग से है यहाँ संतोष भी वैराग्य का ही एक अंग है जहाँ विवेक और वैराग्य है वहाँ विवेक और वैराग कहते हैं जैसे एक पैर आगे रखो दूसरा पैर आगे आओ विवेक से वैराग वैराग से विवेक विवेक से वैराग किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं वहाँ तो विवेक वैराग्य है विवेक वैराग को आगे बढ़ाता है वैराग विवेक को आगे बढ़ाता है इस प्रकार का वहाँ भाव है लेकिन जहाँ वैराग और संतोष है वहाँ जीव के वैराग की ही शक्ति संतोष है अगर शिष्य को संतोष नहीं तो वैराग को बना जैसे भक्ति का सार्थक तो भगवान का प्रेम है प्रेम भगवान में है नहीं भगवान के प्रति समर्पण है नहीं उसके ऊपर आश्रित रहने के सामर्थ्य है नहीं आश्रित संसार में अन्य नहीं कैसे बची गए वो फिर वो भक्ति भक्ति भक्ति का सार प्रेम प्रेम की तरह कोई इसी प्रकार वैराग्य संतोष वैराग्य संतोष नहीं तो वैराग्य कल्पना इस प्रकार संतोष के साथ अगर वैराग को देखे तो वैराग से मैंने जान बूझ करके अपने को टॉर्चर करना जो वैराग नहीं लेकिन इसके माने ये भी नहीं है कि वैराग के माने अगर अपने कोई संयम नहीं रखना है कुछ नहीं करना है तो जो नहीं था तो उसी के दिन भर आया करते रहो कहते वैराग तो है ही है लेकिन कामना तो करनी ही पड़ेगी दिल संतोष की कामना का एक जगह आ जाएगा हाँ? माने कामना का नष्ट कर जब संतोष हो तब कामना का नाश हो और कामना का संतोष नहीं है जब तो कामना के असंतोषी व्यक्ति को तो कामना होगी असंतोषी घर तो कामना कामना है तो संतोष संतोष हो गया तो कामना जब कामना नहीं सब पैदा किया भगवान ने बहुत बार कहा योग कहो उसने संन्यास कहो और कामना का त्याग नहीं किया तो न योग है न संन्यास है कुछ नहीं इस भाव से अगर देखें इसको तो पता चलता है ये कि ये जो है ये ये वैराग और संतोष दोनों के साथ हरि हरिगोविंदम ने ये भाव पूर्वी पूर्व बता दिया था जहाँ पहली बात आई पहले लोग जहाँ है यद से निज भक्तोपार्जन यद से निज कर्मोपाधि विस्तम प्रेम विनोदय विस्तम ये संतोष है यद लभ से निज अपना परिश्रम करो परिश्रम करने का मानव यह नहीं कि आप सामना नहीं करो परिश्रम करो जो आपका कर्तव्य करना है उसमें लगे रहो आप जो कुछ भी उसके फल स्वरूप प्राप्त होता है उसमें संतोष रखो हाँ? जितना जो कुछ आ गया जितना जो कुछ मिल गया उसमें संतोष ऐसे जो असंतोषी व्यक्ति है कामनाओं से ग्रसित है कि संतोष को, को बड़ी निंदा करते हैं बड़ा ध्यान मानते हैं अगर किसी को देखने के संतोष किसी में है और अपने प्रसन्न रहता है सही रहता है तो उसको इतना चिपकारेंगे इतना चिपकारेंगे चिपकाने कहेंगे कि तुमको तो कुछ परवाह नहीं है तुमको चक्कर करते नहीं हो तुम्हें तो ज्ञान ही नहीं है वो स्वयं जैसे कामना से प्रदत्त का उतारा तो दुनिया कामना से प्रदत्त हो वो भी कामना से व्यस्त होकर के कुछ न कुछ कर रही है जब कभी ये भी करना है ये भी करना है वही उसका करे चाहे कुछ न करे करना किया है तो बहुत अच्छा ये सब करना है ये लोग संसार की तो अलग बात है जो शास्त्र कहते हैं वो बात अलग है हमको दोनों को तो अलग अलग करके देखना इसलिए कहते हैं कि संतोष दोस्त वाले मुश्किल बात है अपने परिश्रम करो जो अपना कर्तव्य करो जितनी सामर्थ्य अपना काम करो जितना शारीरिक शक्ति है मानसिक बौद्धिक शक्ति उसको लगाओ जिस क्षेत्र में जहाँ से जो कुछ कर सकते करो उसके क्षेत्र में स्वरूप कुछ न उपलब्ध तो होगी लौकिक रूप से होगी आध्यात्मिक रूप से भी होगी परमात्मिक रूप से होगी अपने लिए भी होगी दूसरे के लिए भी कुछ न कुछ होगा तो होगा जो कुछ होगा आप अपना संतोष रखो उसके लिए हाँ हाँ करना पड़ता इसलिए कहते हैं किसी में वैराग्य किसी में नहीं है इसी संतोष में ही वैराग्य नहीं इतना संतोष हो गया तो वैराग्य हो गया संतोष व्यक्ति को शांति भी देता है वैराग्य की शांति देता है संतोष और वैराग्य व्यक्ति के अंदर से वो जो घबराहट परेशानी चिंताएं उनसे सबसे मुक्त कर देता है ये स्वभाव की बात धीरे धीरे करके ये सब शास्त्र में लिखा हुआ समझ भी आ जाए कोई स्वीकार भी करके कैसा है लेकिन जब तक स्वभाव नहीं बनते तो तब तक क्या पहले यहाँ कामना नहीं होना चाहिए उसी पर बाहर निकले कामनाओं से कोई कामना कामना ये बैठा बैठा ये हो जाए वो हो जाए ये मिल जाए वो गंजा कामना का बच्चा मतलब चक्कर होता है समझ जाएगा यहाँ पर पड़ संतोष क्या है बाहर निकले प्रयास में गए शहर में गए सब जगह संतोष है या संतोष कि ये अस्त्र शस्त्र से प्रारंभ हुआ तो कुछ अस्त्र शस्त्र दो तीन घंटियों अस्त्र शस्त्रों के नाम है वो सब गुण है उन सब गुणों की चर्चा कर देखे हम करेंगे इनके बार बार विचार करना चाहिए बहुत सूक्ष्म बातें हैं इसलिए बहुत जल्दी जल्दी एक साथ बोल जाने के माने उनकी उपेक्षा है